क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि उसका खजूरों और अंगूरों का एक बाग हो जिसके नीचे नहरें बहती हों और उसको उस बाग में और भी हर तरह के फल हासिल हों और बुढ़ापे ने उसे आ पकड़ा हो और उसके बच्चे अभी कमज़ोर हों इतने में एक आग से भरा बगूला आकर उसको अपनी जद में ले ले और पूरा बाग जल कर रह जाए اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور کرو